प्यारे मसीहा तुम्हारे हर वचन में अमृत भरा है धन्य वो भगवान जिसने तुम्हारे बचन को ग्रहण किया तुम्हारा पवित्र बचन हमारा सच्चा अन्न जल है इस अन्न जल से हमारी आत्मा को पूर्ण शांति मिलती है और पाप का नामो निशान तक मिट जाता है यही तुम्हारा वरदान है प्रभु मैं अपने भाइयों से यही कहता हूँ कि स्वर्ग के राज का एक ही रास्ता है जिस रास्ते का नाम है ख्रिस्त सिर्फ दो अक्षर कृष्ण रस भरते कृष्ण रस भरते कृष्ण रस भरते रे भाई कृष्ण रस भरते गा तू भी प्रभु नाम गा तू भी प्रभु नाम काहे को तरते रे भाई कृष्ण रस भरते कृष्ण रस भरते कृष्ण रस भरते भागवान वो जग में जितने कृष्ण वचन सुन पाए भागवान वो जग में जितने कृष्ण वचन सुन पाए मरण भोग चल जाए पाप उसको ना छूने पाए मरण भोग चल जाए पाप उसको ना छूने पाए यही कृष्ण वरदान मिला ईश्वर तेरे भाई कृष्ण रस भरते कृष्ण रस भरते रस भरते रे भाई चित्त रस भरते कृष्ण ही तन मन कृष्ण ही सब धन कृष्ण विजयकारी कृष्ण ही जल फल कृष्ण जगत मन कृष्ण ही यशकारी बोलो मुख से कृष्ण करो तो अक्षर से भाई ख्रिस्त रस भरते ख्रिस्त रस भरते सरस भरते रे भाई सरस भरते तू बिभुनामी ब्रभु नाम काए मोटर तेरे भाई काए मोटर तेरे भाई पिसर बेसर करे बिसरत कर तेरे भाई बिसरत बरे बिसरत करे का तू बि ब्रभु नाम काए मोटर तेरे भाई किस तरफ बढ़ते रे भाई किस तरफ बढ़ते